ब्रज तजी गए माधव काली ब्रज तजी गए माधव काली श्याम सुंदर कमल लोचन क्यों बिसरो आली ब्रज तजी गए माधव काली बैठिन शिवासर विसूरते विकल चहो दिश भारी कहाँ करो कृत कर्मयापनो काहि जय भजो भोजन भवन भूषण अति वियोग विहार इतना ही को काहि पठमो करि रही जीयलाल धोखे ही धोखे दगा दे गयो रथचारी सूर के प्रभु कहत यशोदा कहाँ पायो पारी व्रज को छोड़कर माधव कल चले गए सखी उन कमल लोचन श्याम सुंदर को कैसे भुलाऊं रात दिन बैठी चिंता करती रहती हूं जिससे चारों ओर अत्यंत व्याकुलता रहती है क्या करूं यह अपना ही किया हुआ कर्म है अतः गाली दोष किसे दी जाए उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर भोजन आभूषण भवन सब छोड़ दिए पर कोई ऐसा हितैषी नहीं किसे उसके पास भेजूं यही चिंता कर रही हूँ मरी जा रही हूँ धोखे ही धोखे में अक्रूर हमें चकमा दे रथ चलाकर ले गया यशोदा जी कहती है सूरदास के प्रभु का पालन करके मैंने क्या पाया नंद ब्रजली जय ठोक बजाए नंद ब्रज लिजय ठोक बजाए बेदा मिल जाहि मधुपुरी जहाँ को कुल कौरा नंद ब्रज लिजय ठोक बजाए नंद ब्रज लिजय ठोक बजाए कहो क्यों सूझो उलट दियो जब पाई रघुपति दशरथ कथा सुनी ही रघुपति दशरथ कथा सुनी ही बरुमरते गुण गाय ब्रजली जय ठोक बजा मसान विदित यह गोकुल भूमि मसान विदित यह गोकुल मनोधाई कै खाई सूरदास प्रभु पास जाहि हम देख रूप घाय सूरदास प्रभु पास जाहि हम देखहे रूपय भायनंद ब्रजली जय ठोक बजाय नंद जय ठोक बजाय सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती है नंद जी अब अपना ब्रज ठोक बजाकर भली प्रकार देखकर संभाल लीजिए हमें विदा दें जिससे हम सब मिलकर मथुरा जाएं जहाँ गोकुल का स्वामी है जब लौटकर तुमने इधर ब्रज की ओर पैर रखा तब नेत्रों से मार्ग कैसा सूझा दिखा श्री राम के वियोग में दशरथ के देह त्याग की कथा तुमने सुन ही रखी थी अतः लौटने से अच्छा था कि मोहन के गुण गाते गाते वहीं मर जाते यह गोकुल तो अब स्मशान भूमि के समान ऐसा लगता है मानो दौड़कर खा लेगा हम तो अपने स्वामी श्याम सुंदर के पास जाएंगे और उनका रूप तृप्त होकर देखेंगे माई हो किन संग गई माई हो किन संग गई हो ये दिन जानत ही बूढ़ी लोगन की सिखई माई हौकिनखं गगई मोके बैरी भय कुटुम सब मोको बैरी भय कुटुम सब फिरी फेरी ब्रज गाड़ी जोखों कै सहू जान पावती जो हो कैसे हूँ जान पावती तो कतयावत छाड़ी अब हो जाय जमुन जल बही हो कहाँ करो मोहिराखी सूरदास वा भाई फिरती हूँ जो मधु रे माखी सूरवा भई पिरती होम जो मधु रे माखी सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कह रही हैं हाय मैया मैं मोहन के साथ क्यों नहीं गई यह उससे वियोग का दिन आएगा यह जानकर भी मैं लोगों के सिखलाने समझाने में आकर डूब गई मारी गई मेरे लिए ये सब कुटुंब के लोग शत्रु हो गए उन्होंने ही बार बार समझाकर मुझे ब्रज में रोक रखा यदि किसी प्रकार मैं यह जान पाती कि श्याम सुंदर नहीं लौटेंगे तो उसे छोड़कर मैं क्यों आती क्या करूं लोगों ने मुझे रोक लिया इसलिए अब मैं जाकर यमुना के जल में अपने को प्रवाहित कर दूंगी जैसे शहद तोड़ लेने पर मक्खियां विचलित हो जाती हैं उसी भांति मैं घूमती हूँ हो तो माई मथुरा ही पै जई हो दासी भय वसुदेव राय की दर्शन देखत रही हो हो तो माई मथुरा ही पे जई हो दासी भय वसुदेव राय की दर्शन देखत रही हूँ राखी राखिए ते दिवसन मोही कहा कियो तुम को सौ तो अक्रूर गए ले तनक खिलौना जी को मोह देख के लोग हसेंगे अरु कान हंसे सूर्य शीश जाय गए हूँ जननात हो बर फैसे सूर्यसी सजाहि दे हम जनन्यात हो बरखस सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कह रही हैं ब्रजराज मैं तो मथुरा को ही जाऊंगी वहां राजा वसुदेव की दासी होकर मनमोहक के मनमोहन के दर्शन करती रहूंगी इतने दिनों तक मुझे बार बार रोक कर तुमने भला नहीं किया मेरे हृदय का जो तनिक सा खिलौना था उसे भी तू अक्रूर के अक्रूर ले गया मुझे देखकर मथुरा के लोग हंसे और कन्हैया भी क्यों न हंसे किंतु मैं वहां जाकर उसे यही आशीर्वाद देती रहूंगी कि स्नान करते समय भी मोहन का बाल भाका न हो पंथी इतनी कहियो बात पंथी इतनी कहियो बात तुम भी नहीं हाँ कुंवर बर मेरे तुम भी नहीं हाँ कुंवर बर मेरे हो तजते उतपात बखी घासुर टरत नटारे बकिय घासुर टरत नटारे बालक बनहि न जा गज पिंजरी रुधि मनोराखे ब्रज पिंजरी रुधि मनोराखे एक सन को अकुलात निकसन को अकुलात गोपी गाई सकल लघु दीरघ पीत बरन कृथ गात परम अनाथ देखियत तुम बिन कही अवलंब कान कान के टेरत तब धो कान कान के टेरत तब धो अब कैसे जियमानत यह व्यवहार आजुल है ब्रज यह व्यवहार आजुलो है कपट नाट छल ठानत दसहु दिशीत उदित होत है दावा नल के कोट आखिन मोदी रहत सन मुख भय नाम कवच दय ओट ये सब दुष्ट हते हरि जेते भय एक ही पेट सत्वर सूर सहाय करो अब समझ पुरातन हेट सत्वर सुर सहाय करो अब समझ पुरातन हेट सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कह रही हैं पथिक इतनी बात तुम श्याम सुंदर से कह देना मेरे श्रेष्ठ कुमार तुम्हारे बिना यहाँ जितने उत्पात हो रहे हैं उनकी क्या चर्चा की जाए पूतना और अघासुर यहाँ से हटाने पर भी नहीं हटते और ब्रज के बालक अब वन में नहीं जाते मानो वे ब्रज रूपी पिंजड़े में बंद करके रखे गए हों और उससे निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हों छोटी बड़ी सब गोपियाँ और गायें पीले रंग की और दुर्बल शरीर हो गई हैं हे तात तुम्हारे बिना ये अत्यंत अनाथ दिखाई पड़ती हैं भला अब ये किसका सहारा लें तब तो ये कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारती रहती थी अब तुम्हारे बिना इनका चित्त कैसे मानेगा व्रज का आज तक यह व्यवहार है कि यहाँ कपट नहीं अपितु तो छल करने भर के लिए यहाँ के लोग उसका स्वांग करते हैं अब ब्रज में दसों दिशाओं से दावा नल की दीवारें उठा करती हैं अतः आंखें बंद करके हम सब तुम्हारे नाम रूपी कवच की आड़ लेकर उसके सम्मुख रहती हैं श्याम सुंदर तुमने जितने इन सब दुष्टों असुरों को मारा था वे अब एक ही माता के पेट से फिर उत्पन्न हो गए हैं इसलिए पुराना प्रेम समझकर हमारी अब शीघ्र सहायता करो कहियो श्याम सो समझाए कहियो श्याम सौ समुझाई वह ना तो नहीं मानत मोहन मानो तुम्हारे धाय एक बार माखन के काज राखे मैं अटकाई को बिलगन मानो मोहन लागे मोहि बलाई बार ही बार यह लौलागी कहे पथिक के पाई सूरदास या जननी को दियम सूरदास या जननी को जियन राखों बदन दिखाई कहियो श्याम सो समझाई कहियो श्याम सो समझाई सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कहती हैं पथिक श्याम सुंदर से समझा कर कहना मोहन यदि वह माता का संबंध नहीं मानते तो मुझे अपनी धाय पालिका ही मान लो एक बार मक्खन के लिए मैंने तुम्हें बांध रखा था मोहन उसका दुख मत मानना मुझे तुम्हारी सब विपत्तियां लग जाए बार बार यही उलाहने की धुन उन्हें लगी थी और वह कहते कहते उन्होंने पथिक के पैर पकड़ लिए तथा फिर कहने लगी ही जाकर कहो मोहन माता को मुख दिखलाकर उसके प्राण रख लो यद्यपि मन समुझावत लोग यद्यपि मन समझावत लोग सूल हो तनवनीत देखे मोरे मोहन के मुख जोग प्रात काल उठी माखन रोटी को बिन मांगे दई है प्रात काल उठी माखन रोटी को बिन मांगे दई है को मेरे वा कान्हा कुंवर को छिन छिन अंकमलई है कहियो पथिक जाय घर आवहु राम कृष्ण दो भैया सूर श्याम कित होत दुखारी जिनके मोसी मैया सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कह रही हैं सखी यद्यपि लोग मेरे मन को समझाते हैं तथापि मेरे मोहन के मुख योग्य मक्खन देखकर मुझे वेदना होती है भला कौन उसे सवेरे उठने पर बिना मांगे मक्खन और रोटी देगा और कौन मेरे उस कुंवर कन्हई को क्षण क्षण में गोद लेगा पथिक जाकर कहना कि तुम दोनों भाई बलराम और कृष्ण अब घर आ जाओ हे श्याम सुंदर जिसके मेरे जैसी माता है वह क्यों दुखी हो मेरो कहा करत हुई है मेरे मेरो कहा करत हुई है कहियो जाय बेग पठ वही गृह गायन को द्वई है दिजय छाड़ी वारी सब प्रथम ओर प्रतिपारो हम हो जिय समुझे नहीं को तुम तय हितु हमारो आज ही आज काल काल ही करी भलो जगत जसली आज ही काली कियो चाहत हूँ आज ही काली कियो चाहत हूँ राज अटल कर पर परदासूर बहुत बिन चलतो दोहुन भवती लूटी अंतहु कान्हया गोकुल जन्म जन्म की ऊटी कहियो जाई बेग पठ वही गृह गायन को द्वई है गायन को द्वई है सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कह रही हैं मेरा लाल क्या करता होगा अरे पथिक जाकर वसुदेव जी से कहना कि उसे शीघ्र घर भेज दे यहाँ उसके बिना गायें कौन दुहेगा मोहन अब सब नगर नारियों को छोड़ दो और अपने पहले के लोगों का पालन करो जिससे हम अपने चित्त में समझे कि तुमसे अधिक कोई हमारा हितैषी नहीं है आज आज तथा कल कल आज जा आता हूँ कल आऊँगा करते हुए तुमने संसार में अच्छा सुयस लिया यहाँ ब्रज अनेकों आजकल टाल मटोल ही करना चाहते हो और वहाँ राज्य अभिचल कर दिया तुम्हारा यह पर्दा रहस्य बहुत दिन चलता कि तुम नंद के पुत्र हो और दोनों व्रज तथा मथुरा के लोगों के लिए यह तुम्हारे सुख की लूट शोभा भी देती किंतु कन्हैया जन्म जन्म की उमंगों के कारण अंत में गोकुल आएंगे ही